बहुत से प्रश्न मित्रों ने पूछे का अर्थ है जो अब नहीं है जो मर चुका जो मर चुका उसे हमें विदा करने की हिम्मत होनी चाहिए दुख होता है तो भी विदा करने का सामना होना चाहिए उसे मन के तल पर बचा बचा के रखना बहुत ही खतरनाक है तो जब मैं कहता हूं अतीत को छोड़ देने के लिए तो मेरा अर्थ है ताकि हम भविष्य की तरफ देख सकें मेरा अर्थ है कि जहां से हम गुजर गए वहां से हम गुजर ही जाए मन हमारा उन रास्तों पर न भटकता है जहां हम अब नहीं है कभी थे जहां हम हैं उन रास्तों पर हमारी दृष्टि हो ताकि हम वहां पहुंच सके जहां हम अभी नहीं है लेकिन जहां हम थे उनकी स्मृतियों में खोरा हुआ चित्र भविष्य के निर्माण में और वर्तमान के जीवन में असुविधाएं पैदा कर देता है अगर रूस के बच्चों से जाकर पूछो तो वो चांद पर बस्तियां बसाने के लिए योजना बना रहे हैं अगर अमेरिका के बच्चों से पूछो तो वे आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए न मालूम कितनी कल्पनाएं कर रहे हैं उनका चित्र भविष्य में और हमारे बच्चे हमारे बच्चे रामलीला देख रहे हैं रामलीला देखना बुरा नहीं है और राम बहुत सुंदर है अद्भुत है लेकिन रामलीला ही देखते हुए रुक जाना और रामलीला ही देखते रहना और रामलीला की तरफ ही चित्त का मरा रहना बहुत खतरनाक है क्योंकि ये पीछे की तरफ मुड़ी हुई गर्दन धीरे धीरे पैरालाइज हो जाती है फिर ये आगे की तरफ नहीं देखती जैसे किसी कार में पीछे लाइट लगा दिया वो तो कारें पश्चिम में बनती और हम उनकी नकल में बनाते हैं अगर हम शुद्ध भारतीय कार बनाए तो उसमें एक लक्षण ये होगा कि उसके लाइट पीछे की तरफ लगे होंगे चलेगी गाड़ी आगे देखेगी पीछे दूर उड़ रही है उस रास्ते पर रोशनी पड़ेगी और आगे अंधेरा होगा जहां जाना प्रकाश वहां होना चाहिए जहां जाना जहां से चल चुके हैं वहां अंधेरा भी हानिकर नहीं है क्योंकि पीछे तो कोई जा ही नहीं सकता जाना तो सदा आगे ही पड़ता है और जहां हम नहीं जा सकते वहां ध्यान को अटकाना निश्चित ही जहां हम जा सकते हैं वहां से ध्यान को वंचित करना एक बात दूसरी बात ये अतीत का इतना गुणगान जो हम करते हैं अतीत के स्वर्ण युग होने की गोल्डन एज होने की रामराज्य होने की जो हम बातें करते हैं ये अतीत इतना सुंदर कभी था नहीं जितनी हम कहानियां बनाए थे लेकिन हमने ये कहानियां क्यों बना ली इन कहानियों के बनाने के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा भविष्य की तरफ देखता है उसके पीछे कोई अतीत नहीं होता एक बूढ़ा आदमी है बूढ़ा आदमी बैठ के अपने आराम कुर्सी पर आंख बंद करके अतीत की तरफ देखता है बचपन जवानी जो बीत गए क्योंकि बूढ़े के आगे कोई भविष्य नहीं है बूढ़े के आगे मौत है मौत वो देखना नहीं चाहता वो पीछे लौट के अतीत की स्मृतियां देखता रहता है और जिन जवानी की स्मृतियों को वो बड़ा सुखद पाता है जब वो जवान था तब इतनी सुखद नहीं थी और जिन बचपन की बातों को अब वो इतना स्वर्णिम बना लेता है सपने बना लेता है वो बचपन वैसा ही साधारण बचपन था जैसा सबका होता है लेकिन दुखद को तो छोड़ देता है आदमी सुखद को संजो लेता है एक चुनाव चलता है पूरे वक्त दुखद को हम भूलते चले जाते हैं सुखद को याद करते चले जाते हैं बाद में जब लौट के देखते हैं तो सुखद की एक लंबी धारा दिखाई पड़ती है दुखद भूल चुका होता है हमारे अहंकार को दुखद बर्दाश्त नहीं है उसे हम अंधेरे में सरका देते हैं सुखद को याद रखते बच्चों से पूछो कोई बच्चा नहीं कहेगा कि बचपन बहुत आनंद दे रहा है बच्चे पूरे वक्त इस कोशिश में लगे हैं कब जवान हो जाएं क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि जवानी बहुत आनंद मालूम पड़ रही छोटे छोटे बच्चे रास्तों के किनारे गलियों में छिपके सिगरेट पी रहे हैं ये मत सोचना कि बच्चे सिगरेट इसलिए पी रहे हैं कि सिगरेट पीने में बहुत आनंद आ रहा है वो बड़ों को सिगरेट पीते देख रहे हैं सिगरेट बड़े होने का सिंबल वो सिर्फ पी के बड़े होने की अकड़ से भर रहे हैं एक दिन सुबह में घूमने निकला था एक पोस्ट ऑफिस के पास से जा रहा था एक छोटा सा बच्चा हाथ में छड़ी लिए हुए छोटी सी मूछ दो आने की खरीद के लगाए हुए रास्ते पे चल रहा था मुझे देखा एकदम घबरा गया झाड़ के पीछे छिप गया मैं उसके पीछे गया उसने जल्दी से अपनी मूछ निकाल ली मैंने कहा तू क्या कर रहा है उसके पिता से मैं परिचित था दोपहर उनके पिता से मिला उनके पिता ने कहा हमें पता नहीं ये मूछ काहे के लिए लगा के सुबह सड़क पर घूम रहा मैंने कहा पता होना चाहिए बच्चों को बचपन बहुत साधारण मालूम होता है जवानी बहुत असाधारण बड़ी ताकत बड़ी प्रतिष्ठा कोई छोटा बच्चा भी मूछ लगा के हाथ में छड़ी लेके सिगरेट पीना चाहता है वो कोशिश करता है उन प्रतीकों को चुनने की जो बड़ों की लेकिन यही बच्चा कल बुरा होकर बचपन की याद करेगा और कहेगा बहुत सुंदर दिन थे जो कौम बूढ़ी हो जाती है वो याद करती है अतीत के संबंध में जो जवान होती है कौन वो हमेशा भविष्य के संबंध में विचार करती है ये कौन बूढ़ी होती है इसलिए पीछे लौट लौट कर देखती है और ये बड़ा खतरनाक आदमी का बूढ़ा होना स्वाभाविक है कौम का बूढ़ा होना दुर्घटना है एक एक आदमी को तो बूढ़ा होना पड़ेगा लेकिन फिर भी शरीर ही बूढ़ा हो आदमी के मन को बुरा होने की कोई अनिवार्यता नहीं आदमी का मन मरते क्षण तक जवान हो सकता है रह सकता है शरीर तो बुरा होगा हो जाए लेकिन समाज को तो बुरा होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि समाज तो सदा जवान है तो कभी बुरा नहीं होता लेकिन भारत में एक दुर्घटना घट गई समाज भी बुरा हो गया समाज भी पीछे की तरफ देखता है ये पीछे की तरफ देखने का कारण ये नहीं है कि पीछे बहुत सुंदर दुनिया बीत गई है पीछे तरफ देखने का कारण ये है कि भविष्य को निर्माण करने की क्षमता और साहस हमने खो दिया है बाहर भविष्य में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता सिवाय अंधकार के तो पीछे लौट के मन को समझाते रहते हैं पीछे लौट के देखते रहते हैं और तीसरी बात एक बहुत अद्भुत तार्किक भूल हो रही है और वो ये हो रही है जैसे आज आज से दो हजार साल बाद न तो मुझे कोई याद रखेगा न आपको कोई याद रखेगा लेकिन गांधी का नाम दो हजार साल बाद लोग याद रखेंगे और दो हजार साल बाद लोग कहेंगे गांधी इतना अच्छा आदमी उससे अच्छे रहे और उस जमाने के लोग उस जमाने के लोगों का गांधी से क्या संबंध लेकिन गांधी की याद रहेगी हम सब भूल जाएंगे और गांधी की याद पर हमारे संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि बहुत अच्छे लोग थे और हम हमारा गांधी से तो कोई भी संबंध नहीं कौन से संबंध हो भी सकता है गांधी से हमारा क्या लेना लेकिन गांधी हमारे प्रतीक बन के इतिहास में जिंदा रहेंगे और लोग गलती करते रहेंगे हमेशा वो कहेंगे गांधी योग इतना अच्छे लोग थे वही भूम सदा होती है हम कहते हैं राम राज राम का युग कितने अच्छे लोग थे राम याद रह गए और वो जो वृहत्तर मनुष्य था उसका हमें कुछ भी पता नहीं कि वो कैसा वो बहुत अच्छा नहीं रहा हो बुद्ध याद रह गए महावीर याद रह गए उस जमाने का आम आदमियों ने याद नहीं रहा मैं कहता हूं वो बहुत अच्छा नहीं रहा होगा क्यों कहता हूं आप कहेंगे जब उसके संबंध में कुछ पता नहीं तो ऐसा मैं क्यों कहता हूं कुछ कारण से कहता हूं इसलिए कहता हूं कि बुद्ध सुबह से सांझ तक लोगों को समझाते हैं चोरी मत करो झूठ मत बोलो हिंसा मत करो बेईमानी मत करो किसको समझाते हैं अच्छे आदमी महावीर सुबह से सांझ तक 40 साल तक यही समझाते रहे संयम साधो असंयम बुरी चीज है चोरी बुरी चीज है ज्यादा मत खाओ कम खाओ किन लोगों को समझा रहे थे महावीर जी अच्छे लोगों को जो चोर नहीं थे उनको समझा रहे थे चोरी मत करो और अगर महावीर ने 40 साल में एक आध बार कहा होता कि चोरी मत करो तो हम समझते कि एक आध आदमी मिल गया होगा चोर लेकिन सुबह से शाम तक महावीर ही चिल्लाते हैं कि चोरी मत करो हिंसा मत करो इससे क्या पता चलता है इससे दो बातें हो सकती या तो महावीर का दिमाग खराब रहा हो या समाज खराब रहा हो तो मैं मुझे लगता है महावीर का दिमाग तो खराब नहीं समाज चोरों और बेईमानों का रहा होगा इसलिए बेचारे महावीर को सुबह से यही समझाना पड़ता है शिक्षाएं बताती हैं कि लोग कैसे थे शिक्षाओं से पता चलता है कि लोग कैसे थे शिक्षाएं खबर देती हैं कि किन को दी गई होगी महावीर और बुद्ध से पता नहीं चलता कि जमाना कैसा था महावीर और बुद्ध की शिक्षाओं से पता चलता है कि जमाना कैसा था क्योंकि महावीर बुद्ध से तो महावीर बुद्ध का पता चलता है कि कैसे थे लेकिन शिक्षाओं से पता चलता है कि जिनको वो शिक्षा दे रहे थे वो कैसे दुनिया की पुरानी से पुरानी किताब यही कहती है कि आजकल के लोग खराब हो गए हैं पहले के लोग अच्छे थे चीन में छह वर्ष पुरानी किताब और उसकी भूमिका को अगर पढ़े तो ऐसा लगेगा पूना के किसी दैनिक अखबार में एडिटोरियल लिखा हो भूमिका में लिखा हुआ है कि आजकल के लोग बिल्कुल ही अनैतिक हो गए हैं दुराचारी हो गए हैं व्यभिचारी हो गए हैं आजकल के लोग बिल्कुल धार्मिक नहीं रहे आजकल के लोगों में कुछ नहीं रहा जो अच्छा है पहले के लोग बहुत छह हजार साल पहले की किताब तो पहले के लोग कब थे जो अच्छे थे कभी थे अब तक ऐसी एक भी किताब नहीं मिली जिसमें ये लिखा हो कि इस समय के लोग अच्छे हैं सब किताबें कहती हैं पहले के लोग अच्छे थे ये पहले के लोग बहुत काल्पनिक मालूम पड़ते हैं ये पहले के कुछ अच्छे लोगों की स्मृति के कारण सारे लोगों को अच्छे मानने की कल्पना मालूम पड़ती है मैंने सुना है बेबीलोन में खुदाई करने वाले पुरातत्व के खोज करने वाले लोगों को एक ईट मिली है जो ईट अंदाजन दस हजार से पंद्रह हजार साल पुरानी होनी चाहिए उस ईट पर जो लिखा हुआ है उसको खोज करने वालों ने पता लगाया है कि क्या लिखा है उस ईट पर एक मोटो लिखा हुआ है चोरी करना पाप पंद्रह हजार साल पुरानी ईट पर लिखा चोरी करना पाप क्या मतलब है इसका इसका मतलब है कि पंद्रह हजार साल पहले भी चोरी बड़े जोर से चल रही थी ईंटों पर लिख के मकानों पर लगाना पड़ता था चोरी करना पड़ा लोग कहते हैं कि मकानों में ताले नहीं लगाना पड़ते थे इसका एक ही कारण हो सकता है कि लोग ताला बनाना ना जानते हो चोरी तो जारी है या इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि ताले में रखने योग पास में कुछ भी ना रहा हो लेकिन चोरी तो जारी थी क्योंकि पुरानी से पुरानी किताब कहती है कि चोरी करना पाप चोरी नहीं करनी चाहिए चोरी करने वाले को नरक में पड़ना पड़ता है चोरी करने वाले को बहुत बहुत कष्ट देने का वर्णन है चोरी करने वाले को बहुत बहुत दंड का डर है ये क्या है समाज कभी भी अच्छा नहीं था आदमी कुछ अच्छे पैदा हुए व्यक्ति कुछ अच्छे पैदा हुए समाज समाज आज से पहले से हर हालत में अच्छा है समाज समाज रोज अच्छा हो रहा है आने वाला समाज कल और भी अच्छा हो सकता है समाज विकास कर रहा है इसलिए पीछे के स्मृति और गुणगान बहुत धोखे के और खतरनाक खतरा यह है कि जो लोग ये मान लेते हैं कि पीछे का समाज बहुत अच्छा था वो जाने अनजाने अपने समाज को एक हीनता के भाव से भर देते हैं और वो हीनता आदमी को बुरा होने की तरफ ले जाती है अच्छे होने की तरफ नहीं और भारत में तो एक बहुत अजीब धारणा है हमारे तो ख्याल ये है कि पतन हो रहा है विकास नहीं हो रहा पहले था सतयुग अब चल रहा है कलयुग अच्छे युग पहले हो चुके बुरे युग अब चल रहे हैं आदमी रोज पतित हो रहा है हिंदुस्तान के सोचने का जो ढंग है वो कहता है कि समाज पतित हो रहा है ढंग खतरनाक विकसित श्रेष्ठतर आगे आ रहा है ये अगर ख्याल और धारणा हो तो हम श्रेष्ठतर होने का प्रयास करते हैं और अगर ये पक्का ही है कि कलयुग आ रहा है बुरा होना जरूरी है तो फिर भले होने की कोशिश कौन करे हमारा कसूर भी नहीं है कुछ कलयुग चल रहा है हम बुरे हैं पंचम काल चल रहा है हम बुरे हैं हमारा बुरा होना मजबूरी है हम क्या कर सकते हैं समय ऐसा है कि बुरे हैं ये धारणाएं समाज की प्रतिभा को ऊंचा उठाने का कारण नहीं बनती रोकने का कारण बनती महापुरुष हुए हैं महान मनुष्य अब तक पैदा नहीं हुआ महान मनुष्य को पैदा होना है और जो महापुरुष पैदा हुए हैं वो महापुरुष भी इसीलिए महापुरुष मालूम पड़ते हैं ये चौथी बात आपसे कहना चाहता हूं बुद्ध को हुए ढाई हजार वर्ष हो गए ढाई हजार वर्ष तक बुद्ध को याद रखने की जरूरत क्या है आप कहेंगे बुद्ध को याद न रखें महावीर को याद न रखे नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ढाई हजार वर्ष तक महावीर बुद्ध या राम और कृष्ण को याद रखना पड़ता है उसका एक ही कारण हो सकता है कि राम बुद्ध और महावीर जैसे आदमी मुश्किल से पैदा होते गिने चुने कभी उंगलियों पर गिने जा सके अगर दुनिया में बहुत अच्छे आदमी पैदा होंगे तो महापुरुषों को याद रखना मुश्किल हो जाएगा महापुरुष अति न्यून है इसलिए याद रखे जा सकते हैं और ध्यान रहे महापुरुष पैदा ही इसलिए हो पाते हैं कि चारों तरफ हीन आदमियों का जमघट स्कूल में शिक्षक लिखता है काले बोर्ड पर सफेद खड़िया से उससे कहो ना कि काली खड़िया से क्यों नहीं लिखते या उससे कहो कि सफेद दीवार पे क्यों नहीं लिख के काम चला लेते सफेद खड़िया तो वो कहेगा पागल हो गए सफेद खड़िया से लिखूंगा सफेद दीवार पर लिख तो जाएगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा सफेद खड़िया का लिखा हुआ दिखाई पड़ता है काले ब्लैक बोर्ड पर महापुरुष दिखाई पड़ते हैं काली मनुष्यता के बोर्ड के ऊपर नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगी कैसे दिखाई पड़ेगी महापुरुष होंगे लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगी अगर दुनिया अच्छी होगी तो महावीर बुद्ध ऐसे लोग खो जाएंगे इनका पता नहीं चलेगा कहां है लेकिन आदमी की काली तख्ती का लंबा फैलाव उस ब्लैक बोर्ड पर कभी किसी महावीर के हस्ताक्षर सफेद खड़ियानों हो जाते हैं हजारों साल बीत जाते हैं और हम उन्हें देख देखते रहते हैं क्योंकि वो दिखाई पड़ते हैं और उन हस्ताक्षरों पर भी नए हस्ताक्षर करने वाले नहीं आते कि वो दब जाएं वो दिखाई ही पड़ते ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महापुरुष इतने कम है कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एक महापुरुष को दो दो चार चार हजार साल तक याद रखना पड़ता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महान मनुष्यता नहीं है इसलिए महापुरुष पैदा होते हैं दिखाई पड़ते हैं महापुरुष तो पैदा होते रहेंगे लेकिन दिखाई नहीं पड़ने चाहिए इतनी अच्छी आदमियत को जन्म देना जरूरी है कहता हूं पीछे अच्छे लोग हुए अच्छा समाज आगे होगा और अच्छे समाज पर ध्यान देना जरूरी हो गया है अच्छे लोगों पर ध्यान देने से कुछ भी नहीं हुआ एक आदमी अच्छा हो जाए इससे क्या होता है पूना में अगर पांच लाख आदमी और एक आदमी स्वस्थ हो जाए तो ठीक है लेकिन क्या होगा पांच लाख आदमी बीमार है और एक आदमी स्वस्थ है इसका स्वास्थ्य भी पांच लाख लोगों की बीमारी में सुंदर नहीं मालूम होगा इसका स्वस्थ होना भी एक दुर्घटना मालूम होगी एक एक्सीडेंट मालूम होगा होना ऐसा चाहिए कि पांच लाख लोग स्वस्थ हों कभी कोई एक आधा आदमी अस्वस्थ हो जाए होना ये चाहिए कि दुनिया में जो बुरे आदमी पैदा हो उनका नाम हम उंगलियों पर गिन सके अच्छा आदमी आम बात हो बुरा आदमी मुश्किल हो जाए वो कभी पैदा हो तो हम याद रख सकेंगे फला आदमी बुरा पैदा हुआ था 2000 साल पहले जब तक हम अच्छे आदमियों को याद रखते हैं तब तक समझ लेना कि समाज बुरा है जिस दिन समाज अच्छा होगा बुरे आदमी की याद रहेगी अच्छे आदमी का कोई हिसाब नहीं रह ऐसा समाज भविष्य में हो सकता है ऐसा समाज अतीत में नहीं था इसलिए मैं इसलिए मैं कहा हूं कि अतीत से मुक्त होकर निरंतर निरंतर भविष्य की तरफ गति जरूरी एक मित्र ने पूछा कि मैं कहता हूं कि भारत ने पांच हजार सालों में कुछ भी नया नहीं सोचा तो उन्होंने एक आध दो उदाहरण दिए कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन असहयोग का आंदोलन नया सोचा रामदास ने राष्ट्र धर्म की धारणा नहीं सोची फिर वो मेरी बात नहीं समझ पाए ये ऐसा ही है कि जैसे कोई मरुस्थल में जाकर कहे कि मरुस्थल में पानी बिल्कुल नहीं है और एक पागल आ जाए और वो कहे कि चलिए मैं दिखाता हूं एक जगह छोटे से डबरे में पानी भरा हुआ हम गलत करते हैं आपकी बात को इस डबरे में पानी भरा हुआ ये रहा और आप कहते हैं मरुस्थल में पानी बिल्कुल नहीं है मरुस्थल में पानी बिल्कुल नहीं है इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि स्थल में कहीं दो चार डब्बे न मिल जाएंगे जहां पानी नहीं होगा पांच हजार वर्षो तक भारत ने नए तरह से सोचने की प्रवृत्ति विकसित नहीं की है इसका मतलब ये हमारी मूल धारा है कभी इक्का दुक्का कोई आदमी कुछ नया सोचता है लेकिन इससे भारतीय संस्कृति की मूल धारा पता नहीं चलती मूल धारा हमारी पुराने को पकड़ रखने की है जोर से पकड़ रखने की है कभी कोई एक गांधी कोई नई बात सोचता है लेकिन गांधी की बात भी बहुत नई नहीं है जितना हम सोचते हैं सिर्फ नए संदर्भ में प्रयोग है पर वो भी नया है ऐसे तो गांधी की बात रश्किन थोरो और टॉलस्टाय से ली गई भारतीय लोगों को ये दिमाग से ख्याल बहुत छोड़ देना चाहिए कि गांधी जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं गांधी के तीनों गुरु अभारतीय हैं थोरो रस्किन टालस्टा है इन तीनों आदमियों से गांधी की दृष्टि का जन्म हुआ है इन तीनों में से कोई भी भारत का नहीं नॉन कोऑपरेशन का असहयोग की धारणा थोरो से मिली लेकिन ऐसे असहयोग की धारणा बहुत पुरानी है घरों में स्त्रियां पतियों से हमेशा असहयोग करती रही असहयोग कमजोर हमेशा प्रयोग करते रहे स्त्रियां कमजोर हैं इसलिए पुरुषों के खिलाफ असहयोग नाम को ऑपरेशन का हजारों साल से प्रयोग करती रही अभी भी घर में स्त्री कुछ नहीं करती तो नान को ऑपरेट करती आप कहते हैं सिनेमा चलो वो देर तक साड़ी पहनती रहती वो नान को ऑपरेशन कमजोर हमेशा से असहयोग करता रहा कमजोर और कर क्या सकता है ज्यादा ज्यादा ये कर सकता है कि आपको सहयोग न दे भारत कमजोर था उस कमजोरी में भारत को गांधी की बात समझ में आ गई असहयोग की उसका मतलब ये मत समझना कि भारत ने असहयोग की दृष्टि को स्वीकार कर लिया भारत को अपनी कमजोरी को छिपाने का मौका मिल गया और उस असहयोग को उसने मान लिया और चल पड़ा कमजोर हमेशा से वही करते रहे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी ने कुछ नया नहीं किया गांधी बहुत सी दृष्टियों में नए ढंग से सोचे वो सोचना गलत हो सकता है लेकिन फिर भी नया है नए होने से कोई चीज ठीक नहीं हो जाती ये मत समझ लेना कि मैंने कह दिया गांधी ने कुछ नया सोचा तो वो ठीक हो गया नए होने से कुछ ठीक नहीं हो जाता लेकिन फिर भी पुराने से पकड़े रहने से नया सोचना बेहतर है नया सोचना भी गलत हो सकता है नए सोचने में भी सैकड़ों विकल्प हो सकते हैं ठीक और गलत के ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत में कभी ऐसे लोग ही पैदा नहीं हुए बुद्ध ने बहुत कुछ नया सोचा चार ने बहुत कुछ नया सोचा नागार्जुन के पास बहुत कुछ नया है शंकर के पास भी बहुत कुछ नया है लेकिन भारत का जो आम दिमाग है भारत का जो ट्रेडिशनल दिमाग है जो मूल धारा है जो भारत की गंगा है उस गंगा में कभी कभी कोई एक छोटी सी धारा थोड़ी देर को चमकती है और खो जाती है लेकिन मूल गंगा की जो धारा है जो मेन स्ट्रीम है भारतीय चेतना की वो अतीत गामी है वो पुरातन पंथी है वो परंपरावादी है उसके खिलाफ मैंने बातें कही है इसलिए कोई इतने दुख के उदाहरण खोज के ये मत सोचना कि मेरी बातों के विरोध में कुछ सोच लिया डबरे बताए जा सकते हैं मरुस्थल में लेकिन इससे मरुस्थल मरुस्थल ही रहता है इससे मरुस्थल कुछ उद्धान सिद्ध नहीं हो जाता है लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर चित्त अपने को बचाने की न मालूम कैसी कैसी कोशिश करता है अब भी एक मित्र ने रास्ते में मैं आया उन्होंने कहा कि आपने सुबह सांड का उदाहरण दिया सांड तीन साल में जवान होता है आपने कहा एक साल में अब मुश्किल हो गई सांडों का मैं कोई हिसाब रखता हूं कोई वेटनरी का डॉक्टर नहीं सांडों से मुझे कुछ लेना देना नहीं जो बात कही थी वो क्या कही थी वो मित्र कह रहे तीन साल में जवान होगा कहा मैंने ये था कि सांड जब सोचेगा तो गाय के संबंध में सोचेगा वो उसका सोचना वो उसके सांड के माइंड का सवाल है वो तीन साल में सोचेगा तो तीन साल में सही उतना फर्क कर लेना लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं होता उससे कोई प्रयोजन नहीं ऐसी ऐसी बातें लिख के भेजते हैं कि मुझे हैरानी होती है कि हम सोचते हैं सुनते हैं या क्या कर रहे हैं जैसे हमने सोचना बंद ही कर दिया है तो जो मूल आधार होता है उसकी तो बात ही भूल जाते हो और मालूम क्या क्या उसमें से खोजते हैं कि ये ऐसा होगा साढ़े तीन साल में जवान होगा हो तीन साल में हो कि तीस साल में हो और ना भी हो तो कोई चिंता नहीं है जो मैंने कहा उससे इसका कुछ लेना देना नहीं मेरा प्रयोजन को लिखना है कि हम जो है वही सोचते हैं और जो हम सोचते हैं उससे पता लगता है कि हम कौन है मैं ये कह रहा था सुबह कि आदमी भी पशु है पशु में ही एक पशु है उसके चिंतन का अगर हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे वो वही है जो पशुओं का वो पशुओं के ऊपर उठ सकता है लेकिन उठ नहीं गया है और अपने को धोखा देना खतरनाक है कि हम अपने को मान लें कि हम पशु नहीं है हम परमात्मा है ये धोखा खतरनाक है आदमी परमात्मा हो सकता है है नहीं ये संभावना है सत्य नहीं है और संभावना को सत्य मान लेना धोखा है संभावना को सत्य बनाने का प्रयत्न बिल्कुल दूसरी बात है और उस प्रयत्न में पहली बात ये होगी कि हम अपने तथ्य को समझें हजारों लाखों साल हो गए जब आदमी जानवरों से दूर हो गया लाखों साल हो गए अंदाजन दस लाख साल हुए होंगे दस लाख साल से आदमी वृक्षों से नीचे उतर आया है बंदर नहीं रह गया आज बंदर में और आदमी में कोई भी समानता नहीं लेकिन बहुत भीतर गौर करें तो बहुत समानताएं मिल जाएंगी आप हैरान होंगे दस लाख साल में भी बुनियादी आदतों में कोई अंतर नहीं पड़े अभी हम रास्ते पे चलते हैं तो आपने देखा दोनों हाथ हिलते हैं बाएं के साथ बाया हाथ हिलता है दाएं पैर के साथ बाया हाथ हिलता है ये काहे के लिए हिल रहे हैं चलने में इनसे कुछ मतलब है कोई मतलब नहीं दस लाख साल पहले हम चारों हाथ पैर से चलते थे उसकी याददाश्त बाकी रह गई शरीर वो शरीर उसी ढंग से काम कर रहा है वो मैकेनिकल हो गया उसे पता ही नहीं कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है आपके लोकोमोशन में आपकी गति में हाथों के हिलाने से कोई संबंध नहीं है दोनों हाथ काट दें तो भी आप इतनी ही तेजी से चल सकते लेकिन दाएं पैर के साथ बायां हाथ क्यों हिल रहा है बाएं पैर के साथ बायां हाथ क्यों नहीं हिलता क्योंकि पशु जो चार हाथ पैर से चलता है जब उसका बायां पैर आगे उठेगा तो पीछे का दाया पैर आगे उठेगा वो दोनों के मूवमेंट का अं- आंतरिक संबंध है दस लाख साल से हम नहीं चले चार हाथ पैर से लेकिन हाथ की आदत वही है वो हाथ की आदत बताती है कि हमारा पूर्वज कभी ना कभी चारों हाथ पैर से चलता रहा है अगर हम आदमी के भीतर खोजबीन करें तो पता चलेगा कि उसके भीतर पशु मौजूद है और उस पशु को पहचानना जरूरी है ताकि हम उसे बदल सके जिसे भी हम जान लेते हैं उसे भी बदलने का हक मिल जाता है जिसे हम नहीं जान पाते हम उसके हाथ में खिलौने होते हैं अज्ञान के हाथ में हम खिलौने ये बिजली जल रही है यही तीन हजार साल पहले वेद का ऋषि हाथ जोड़े इंद्र भगवान से कह रहा था हे भगवान नाराज मत होना बिजली मत चमकाना आज का स्कूल का छोटा बच्चा भी ये नहीं कहेगा कि इंद्र भगवान बिजली मत चमकाना आजकल छोटा सा बच्चा भी जानता है बिजली क्यों चमकती इसमें इंद्र भगवान का कोई भी कसूर नहीं उनका हाथ ही नहीं बिचारों का सच तो ये कि वो है नहीं तो उनका हाथ हो ही नहीं सकता बिजली चमकती थी हम डरते थे क्योंकि अनजान थी बिजली पहचान नहीं थी उससे कुछ हमारे प्राणों को कपा देती थी कभी गिरती थी वृक्ष जल जाता था आदमी मर जाता था हम डरते थे घबराते सोचते थे इंद्र सजा दे रहा है अब हमने बिजली को कैद कर लिया हमने बिजली के राज को जान लिया अब इंद्र भगवान पानी की टंकी चला रहे हैं इंद्र भगवान घर में पंखा चला रहे हैं अब इंद्र भगवान से कहो कि जरा पंखा ठीक से चलाना कोई नहीं कहेगा क्योंकि पंखे की जो राज है बिजली वो हम जानते ज्ञान ने हमें बिजली का मालिक बना दिया आदमी अपने भीतर के संबंध में जब तक अज्ञान में है तब तक अपना मालिक नहीं हो सकता विज्ञान ने हमें प्रकृति का मालिक बना दिया धर्म हमें अपना मालिक बनाता है लेकिन अपना मालिक कोई भी ज्ञान के बिना नहीं बनता अज्ञान में कोई कभी मालिक नहीं बन सकता है और हम अपने संबंध में अज्ञान में और बड़े से बड़े अज्ञान ऐसे हैं कि उन्हें हम उघाड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि डर लगता है कि कहीं हमारे भीतर का असली आदमी प्रकट ना हो जाए असली आदमी हमारा पशु है हाँ उस पशु को जानकर रूपांतरित किया जा सकता है और हम ऐसी सीमाएं छू सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं हम ऐसे दृश्य देख सकते हैं जो कभी नहीं देखे गए हम वहां पहुंच सकते हैं जहां कभी कोई नहीं पहुंचा हम वो जान सकते हैं जो कभी नहीं जाना गया हम उसे पा सकते हैं जिसे पाने पर सब पा लिया जाता है लेकिन उस यात्रा को करना तो हमें पड़ेगा और हम अगर अपने ही अज्ञानी हैं तो ये नहीं हो सकता है उसलिए मैंने वो बात कही एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं कि धर्मों ने दुनिया को लड़ाया और आदमी को वैज्ञानिक होना चाहिए लेकिन अब तो साइंस दुनिया को लड़ा रही एटम बम हाइड्रोजन बम बना रही उन मित्र को मैं कहना चाहूंगा साइंस दुनिया को नहीं लड़ा रही एटम तो जरूर साइंस बना रही है लेकिन साइंस ये नहीं कह रही कि एटम को जाके हिरोशिमा पर पटको ये बेवकूफ राजनीतिज्ञ कर रहे हैं विज्ञान तो सिर्फ शक्ति खोज रहा है और ना समझ राजनीतिज्ञों के हाथ में शक्ति दे रहे हैं आप राजनीतिज्ञ लड़ा रहा है धर्मों ने लड़ाया राजनीति लड़ा रही है विज्ञान तो एक कर रहा है इस वक्त दुनिया में वैज्ञानिकों की कम्युनिटी ही अकेली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है एकमात्र जापान में वैज्ञानिक कुछ खोजता है वो भारत के वैज्ञानिक की संपत्ति हो जाती है अमेरिका में एक वैज्ञानिक कुछ खोजता है वो फ्रांस के वैज्ञानिक की संपत्ति हो जाती है सिर्फ रूस और चीन के मामले में झंझट हो गई क्योंकि उन्होंने लोहे की दीवारें खड़ी कर रखी उनका वैज्ञानिक क्या खोजता है वो बड़ी मुश्किल से पता चलने देते ये जो विज्ञान है वो तो जोड़ रहा है सबको लेकिन राजनीतिक राजनीतिक नहीं जोड़ना चाहता क्यों क्योंकि राजनीतिक की सारी ताकत लोगों के लड़ने पर निर्भर है अगर आप लड़ते हैं तो राजनीतिक मालिक रहेगा अगर आप नहीं लड़ते हैं तो राजनीतिक बेकार हो जाएगा इसलिए राजनीतिक सीमाएं बनाता है हिंदुस्तान की पाकिस्तान की चीन की बर्मा की रूस की अमेरिका की ये सीमाएं कहीं भी पृथ्वी पर नहीं है और ये सीमाएं कोई वैज्ञानिक नहीं खींचता ये सीमाएं पहले धर्मों ने खींची अब राजनीतिक खींच रहा है और ये सीमाएं वो क्यों खींच रहा है क्योंकि जब वो आपको सीमाओं में बांट देता है और जब वो दो सीमाओं में बटे हुए लोगों को लड़ने के लिए राजी कर लेता है तब वो मालिक हो जाता है जब आप लड़ते हैं तब आपको नेता चलना पड़ता है अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है नेता बनने के लिए खतरा पैदा करना जरूरी है अगर हिंदुस्तान में नेता बनना हो खबरा खबर पैदा करो कि चीन का खतरा है जिन्ना को नेता बनना है खबर करो कि इस्लाम का खतरा है हिंदुओं को इकट्ठा करना है तो गोलवेलकर से सीक्रेट पूछो कि क्या है सीक्रेट तो सीक्रेट ये है कि हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है हिंदू धर्म खतरे में इकट्ठे हो जाओ दुश्मन चारों तरफ इकट्ठे दुश्मन इकट्ठे हैं दुश्मन कौन बना रहा है और वो जो दुश्मन इकट्ठे हैं हिंदुस्तान का नेता कह रहा है इकट्ठे रहो क्योंकि पाकिस्तान का डर है पाकिस्तान का नेता पाकिस्तान की गरीब जनता को कह रहा है इकट्ठे रहो क्योंकि पाकिस्तान का डर है लेकिन डर किसका जब दोनों डरे हुए हो छोड़ दो डर खत्म लेकिन राजनीतिक मर जाएगा तो डर छोड़ कौन मानेगा नेता दुनिया को भयभीत रखना जरूरी है बांट के खंड खंड में रखना जरूरी है जब तक दुनिया बटी है तब तक राजनीतिक मालिक रहे दुनिया को राजनीतिक लड़ा रहा है राजनीति लड़ा रही है राजनीति नए तरह के धर्म पैदा कर दिए उसने पुराने धर्मों के नाम थे हिंदू मुसलमान ईसाई जैन ये पुराने धर्मों के नाम है सच में पूछिए तो पुरानी पॉलिटिक्स के नाम पुरानी राजनीति नई राजनीति के नाम कम्युनिज्म सोशलिज्म कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी ये नए धर्म है नई राजनीति है इनके भी मक्का मदीना है इनके भी पोप जगत गुरु है वो कम्युनिस्ट क्रिश्चियन की तरफ उसी तरह देखता है जैसे हिंदू काशी की तरफ देखता है मुसलमान मक्का की तरफ देखता है क्रिमिनल पर चमकता हुआ रेड स्टार वही मतलब रखता है जो काशी में विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर का झंडा रखता है दिमाग वही नए ढंग से आदमी को उसे बांट दिया गया है विज्ञान ने तो मौका पैदा किया है कि आदमी को बांटने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि विज्ञान ने वो खोजे किए अब विज्ञान कहता है कि अगर एक शूद्र की और एक ब्राह्मण की हड्डी निकाली जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है और बड़े से बड़ा खोज करने वाला वेद का ज्ञाता भी नहीं बता सकता कि यह हड्डी ब्राह्मण की और ये शूद्र की कि बता सकता कोई रास्ता नहीं हड्डियां एक सी और जब एलोपैथ डॉक्टर के पास एक शूद्र जाता है तो वो ये नहीं कहता कि तुझे तुझे दूसरी दवा कारगर हो ब्राह्मण के लिए है ये ये जो पेनिसिलिन है ये शुद्ध ब्राह्मणों के लिए है तेरे लिए कोई शूद्र पेनिसिलिन खोजनी पड़ेगी वो भी है नहीं वो दोनों को लगा देता है और बड़े मजे की बात है कि पेनिसिलिन बड़ी ना समझे वो दोनों को ठीक कर देती ब्राह्मणों को भी शूद्र को भी कोई फर्क नहीं करती दुनिया के बड़े बड़े संत हार गए थक गए चिल्ला चिल्ला के कि सब एक है शूद्र भाई है फला ढिका संतों की किसी ने नहीं सुनी रेलगाड़ी चली और ब्राह्मण बैठा है उसके बगल में शूद्र बैठ के सिगरेट पी रहा है ब्राह्मण बेचारा अपना खाना खा रहा है और बगल में शूद्र बैठा है कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन कौन है क्योंकि रेलगाड़ी में हजार आदमी बैठे रेलगाड़ी में ब्राह्मण को शूद्र को पास बैठा दिया जो हजारों संघ नहीं कर सके रेलगाड़ी महासंघ रेलगाड़ी को नमस्कार करना चाहिए कि धन है क्योंकि उसने ब्राह्मण और शूद्र को साथ साथ बिठा दिया अगर आदमी पैदल चलता रहता बैलगाड़ी में चलता रहता तो शूद्र और ब्राह्मण कभी पास नहीं बैठ सकते यूरी गागरिन पहली दफा जब अंतरिक्ष में गया तो वहां से जो उसने मैसेज भेजी उसका पता है उसने क्या कहा उसने कहा यहां आके पहली दफा मुझे लग रहा है माई अर्थ मेरी पृथ्वी यहां से मुझे ऐसा नहीं लगता मेरा रूस वहां रूप दिखते ही नहीं अंतरिक्ष में दिखता है पृथ्वी वहां ना कोई रूस है ना कोई चीन है न कोई बात उसने ये नहीं कहा वहां से माई रखिया यूरी गॉर्डन ने कहा कहां है रूस यहां से तो सिर्फ पृथ्वी दिखाई पड़ती है मेरी पृथ्वी अगर चांद की यात्रा शुरू हो गई और चांद पर आप गए समझ लें मंगल पर गए और मंगल पर अगर निवास करने वाले लोग हुए और उन्होंने पूछा कहां से आते तो आपको कहना पड़ेगा पृथ्वी से ये नहीं कि महाराष्ट्र से आ रहे वो मंगल का आदमी महाराष्ट्र का कोई मतलब नहीं समझ पाएगा अगर हम चांद पर पहुंचा दिया विज्ञान में तो पृथ्वी एक हो जाएगी धारणा बदल जाएगी दृष्टि बदल जाएगी विज्ञान ने इतने जोर का कम्युनिकेशन के साधन पैदा किए कि आज एक हिंदू लड़का अमेरिका में जाकर शादी कर सकता है अमरीकी लड़की भारत आकर शादी कर सकती है कितना सुंदर और सुखद अगर सारी दुनिया के बच्चे दूर दूर शादी कर लेंगे तो दुनिया में युद्ध होना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर युद्ध जारी रखना है अपनी ही जाति में शादी करना अगर युद्ध मिटाना है जाति में भूल के शादी मत करना क्योंकि जितने हमारे संबंध दूसरी जातियों में फैल जाते हैं उतने दूसरी जातियों से हमारा खून जुड़ जाता है एक हो जाते हैं दुनिया के पुराने धर्मों ने सिखाया अपनी जात के बाहर मत जाना ये लड़ाई का अड्डा अगर हिंदुस्तान में एक दूसरी जाति में विवाह होता होता तो संतों मंतों को समझाने की कोई जरूरत नहीं थी सब एक अपने आप ही होते हिंदुस्तान इतना टूटा हुआ है उसका कारण यह है कि सब अपने अपने घेरे में विवाह कर रहे हैं घेरे के बाहर कोई संबंध ही पैदा नहीं हो पाता घेरे के बाहर प्रेम के बढ़ने का कोई उपाय नहीं विज्ञान ने सब सीमाएं तोड़ दी हैं आने वाले पचास वर्षों में बची बची सीमाएं टूट जाएंगी और दुनिया एक हो सके लेकिन राजनीतिक बाधा डाल रहा है राजनीतिक जैसे पहले धार्मिक लोगों ने बाधा डाली थी विज्ञान को नहीं बढ़ने दिया था क्योंकि धर्म के लोगों को डर लगा कि अगर विज्ञान बढ़ेगा तो धर्म की जो कपोल कल्पनाएं पोप लीलाएं मूलतापूर्ण कथाएं हैं वो सब मिट्टी हो जाएंगी सब मिट्टी हो गई धार्मिक प्रमुख डरा उसने कहा कि विज्ञान नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि हमने जो जाल फैला रखा है वो सब टूट जाएगा लेकिन सत्य को ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता सत्य विज्ञान के पक्ष में था धर्मों को हार जाना पड़ा विज्ञान जीता अब राजनीतिक विज्ञान में बाधा डाल रहा है क्योंकि अब विज्ञान एक दुनिया वन वर्ल्ड पैदा कर रहा है और राजनीतिक को लग रहा है कि मेरी राजनीति गई अब राजनीतिक कह रहा है कि तो बड़ा मुश्किल राजनीति नहीं जानी चाहिए धर्मगुरु चला गया अब राजगुरु के जाने का मौका आ रहा है विज्ञान के खिलाफ वो अड़ंगे डालता है लेकिन वो भी नहीं जीतेगा पक्ष फिर विज्ञान के पक्ष में सत्य फिर विज्ञान के साथ विज्ञान का अर्थ ही है सत्य की खोज और सत्य जीतता चला जाएगा इसलिए ये मत कहिए कि विज्ञान लड़ा रहा है एटम बनाया है विज्ञान ने ये सच है अनुशक्ति खोजी है लेकिन अनुशक्ति से आप आदमियों को मारें ये किस वैज्ञानिक ने कहा है शायद आपको पता ना होगा सारे दुनिया के पांच हजार वैज्ञानिकों ने दस्तखत करके यूएन को दिए हैं कि हम जो शक्तियां खोज रहे हैं वो इसलिए नहीं खोज रहे हैं कि उनके द्वारा हत्या की जाए लेकिन उनकी कौन सुनता है हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो सारे दुनिया के वैज्ञानिकों की हालत चौंक गई उनकी समझ में नहीं आया कि हमने इसलिए बनाया कि एक लाख आदमी मर जाएगा कुछ घड़ी में अंग की शक्ति तो इतनी सृजनात्मक है कि अगर अंग की शक्ति खेतों में उपयोग की गई पाकाखानों में उपयोग की गई तो दुनिया से दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी और जैसा हम सुनते हैं कि देवता तरस के पृथ्वी पर पैदा होने को अब तक तो नहीं तरसे लेकिन अगर अनुशक्ति का प्रयोग हुआ तो देवता अर्जी लगा के चू लगा के खड़े हो जाएंगे कि हमको पृथ्वी पर पैदा होना लेकिन राजनीतिक विज्ञान जो शक्ति पैदा कर रहा है उसका समुचित सृजनात्मक क्रिएटिव उपयोग नहीं होने देना चाहता क्योंकि राजनीति मूलतः हिंसा पर खड़ी है हिंसा ही राजनीति है तो वो हिंसक राजनीतिक का क्या होगा वो बाधा डाल रहा है विज्ञान बाधा नहीं डाल रहा इसलिए दुनिया को धर्मों से मुक्त होने की जरूरत है और राजनीतिज्ञों से भी ताकि जीवन की सारी चिंतना धीरे धीरे धीरे धीरे वैज्ञानिक होती चली जाए और हम जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने में समर्थ हो सके ये हो सकता ये इसके पहले कभी नहीं हो सकता और अगर ये नहीं हुआ तो राजनीतिक सारी दुनिया की हत्या का कारण बन जाएगी सारी दुनिया के हत्या का कारण भी बनेंगे आज हम समुद्र से भोजन निकाल सकते हैं और समुद्र में इतना भोजन पड़ा है कि अभी जमीन की आबादी साढ़े तीन अरब है अगर जमीन की आबादी तीन सौ अरब भी हो जाए तो किसी आदमी को भूखा मरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन साढ़े तीन अरब में ही हम भूखे मरने शुरू हो गए आधी दुनिया भूखी मर रही क्योंकि आणविक शक्ति का समुद्रों में प्रयोग करके समुद्र से भोजन निकाला जा सकता है वो भोजन निकाले कौन हमें तो एटम बम बनाना है पड़ोसी पर डालने को पड़ोसी को भी एटम बम बनाना है हम पर डालने को पड़ोसी भी भूखा मर रहा है हम भी भूखे मर रहे हैं और दोनों के नासमझ राजनीतिक दोनों को बरगला रहे हैं और धोखा दे रहे हैं कि लड़ने में तुम्हारा हित लड़ने में किसी का भी हित नहीं किसी का भी हित नहीं है नक्शों पर लकीरें बदल जाने में किसी का भी हित नहीं है लेकिन बड़े मजे की बात है चीन और हिंदुस्तान लड़े समझ में आता है महाराष्ट्र और मैसूर भी लड़ते हैं तब सिर्फ ठोक लेने का मन होता है क्या तो नहीं पागलों के हाथ में सारा का सारा मामला मालूम होता है अगर दुनिया में कोई ताकत उतर आए और सारी राजधानियों के राजनीतिकों को पकड़ ले और पागल खानों में डाल दे तो दुनिया आज शांत हो जाए अभी शांत हो जाए सारे पागल राजधानियों में इकट्ठे हो गए और उन्होंने सारी दुनिया को मेट हाउस बना दिया अब जहां आज मिसाइल्स रखे हुए हैं रूस ने और अमेरिका ने एक चाबी एक आदमी घुमा दे और सब गड़बड़ हो जाए तो एक एक मिसाइल की चाबी तीन तीन आदमियों को दी हुई है जब तीन आदमी चाबी लगाए तब मिसाइल चल सकता है अनुभव फेंका जा सकता है क्योंकि खतरा है एक आदमी का झगड़ा हो जाए पत्नी से और गुस्से में आ जाए और गुस्से में आदमी को क्या नहीं सोचता सोचता है खत्म करो और एक आदमी को अपना पत्नी से झगड़ा हो गया वो मिसाइल चला दे आइटम या हाइड्रोजन बम फेंक दे न्यूयॉर्क पर या मास्को पर तो आग लग जाए सारी दुनिया इसी वक्त बर्बाद हो जाए तो तीन तीन आदमियों को चाबी दी लेकिन तीन आदमी साठ गांठ करने तो ये तीन आदमियों का दिमाग खराब हो जाए हजारों आदमियों का एक साथ दिमाग खराब हो जाता है तीन की क्या बात हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ तो हमने नहीं देखा हजारों आदमी एक साथ पागल हो गए तीन आदमी का दिमाग खराब नहीं हो सकता तीन आदमी जरा ज्यादा शराब पी जाए आज दुनिया में कोई पचास हजार उज्जैन बम इकट्ठे हैं और इन इकट्ठे उज्जैन बमों से इतना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है कि इस तरह की सात पृथ्वियां जल हो जाए इस खतरे पर हम बैठे और राजनीतिज्ञों के हाथ में ताकत और आप पूछते हैं कि विज्ञान खतरा ला रहा विज्ञान खतरा नहीं ला विज्ञान सिर्फ ताकत ला रहा ताकत गलत लोगों के हाथ में पड़ जाती खतरा शुरू हो जाता ताकत तो सुख है या कहना चाहिए ताकत ना शुभ है ना अशुभ है ताकत के उपयोग पर निर्भर करता है कि हम क्या उपयोग करते हैं लेकिन हमारा चिंतन अगर वैज्ञानिक ना हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है एक आदमी यहां से खड़ा होकर कह देता है हिंदू मुस्लिम दंगा हो गए और हम लड़ना शुरू कर देते हैं कोई भी नहीं पूछता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कैसे पता चला कि मैं हिंदू हूं कुछ मालूम नहीं है कहीं लिखा हुआ नहीं है भगवान के कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं आता कि ये हिंदू है कहीं चमड़ी पे खुदा हुआ नहीं है कि ये हिंदू सिर्फ बचपन से सिखाया गया इस आदमी को कि तू हिंदू तू हिंदू तू हिंदू वो बेचारा चिल्ला रहा है कि मैं हिंदू फला को चिल्लाया कि तू मुसलमान है वो चिल्ला रहा है मैं मुसलमान ये दो शब्द सिखा दिए और ये दो शब्द एक दूसरे की छाती में छुरा भोंक देंगे कैसा पागलपन दो शब्दों की शिक्षा की मैं हिंदू हूं और एक आदमी मुसलमान है और छुरे चल जाएंगे और एक दूसरे की छाती में घुस जाएंगे और धर्म गुरु कहेगा घबराओ मत धर्म के जिहाद में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है धर्म का जिहाद हो सकता है धर्म के जिहाद में जो जो मरेंगे अगर कहीं नरक है तो उस नरक से कभी नहीं छूट सकते क्योंकि धर्म का जिहाद नहीं हो सकता धर्म का क्या हिंसा हो सकती धर्म से धर्म से युद्ध हो सकता है तो फिर अधर्म से क्या होगा राजनीतिक और धर्म गुरु ने पीड़ित किया है जगत को इसलिए मैंने इन तीन दिनों में कहा कि हमारे पास एक साइंटिफिक एटीट्यूड सोचने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जरूरी है एक दो छोटे प्रश्न और फिर मैं अपनी बात पूरी करूं एक मित्र ने पूछा है कि आप डिस्ट्रक्शन पर विध्वंस पर बहुत जोर देते हैं कंस्ट्रक्शन पर इतना जोर क्यों नहीं देते निर्माण पर इतना जोर क्यों नहीं देते पहली तो बात ये एक आदमी बीमार पड़ा हो पैर सड़ गया हो और वो सर्जन के पास जाए और सर्जन कहे पैर काटना पड़ेगा वो आदमी कहे विध्वंस की क्यों बातें करते निर्माण की बात करिए कंस्ट्रक्शन की बात करिए तो वो सर्जन कहेगा तो जाइए लेकिन कल तक जब तक आएंगे तब तक दोनों पैर काटना पड़ेगा और अगर परसों तक आए तो फिर बचना मुश्किल है समाज सड़ गया है सब अंग सड़ गए हैं और आप कह रहे हैं रचनात्मक वो जितने लोग रचनात्मक कार्यक्रम चला रहे हैं वो सब इसी सड़े गले समाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ठेगड़े लगा रहे हैं इसी समाज को मकान गिरने के करीब है सब दब के मर जाएंगे उसमें वो उसी में बल्लियां लगा रहे हैं पलस्तर बदल रहे हैं बोर्ड पेंट कर रहे हैं दरवाजों पर नया रंग रोगन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं सर्वोदय का आंदोलन चला रहे हैं उसी समाज में जो सड़ गया है उस सड़े समाज में जो भी रचना का काम कर रहा है वो सड़े समाज को बचाने की कोशिश कर रहा है उसको जिलाए रखने की कोशिश कर रहा है वो मरे मरे आदमी को ऑक्सीजन पिला रहे हैं कि किसी तरह बच जाए क्यों इतना बचाने का मोह क्या है जो मर गया है उसे मर जाने को नया सदा जिंदा होने को है नया सदा पैदा होता है पुराने पत्ते गिरते हैं पतझड़ में वृक्ष चिल्ला के नहीं कहते कि हे परमात्मा ये क्या विध्वंस कर रहे हो सब पुराने पत्ते गिरा दे रहे हो हम बिल्कुल नंगे हो जाएंगे नहीं वृक्ष नहीं कहते वृक्षों की अपनी विस्टम है अपना ज्ञान है वो जानते हैं कि जो पुराने पत्ते गिरे उन्हीं जगह से नए पत्ते निकल आएंगे पुराने का विध्वंस होना जरूरी है ताकि नए का जन्म हो और ध्यान रहे विध्वंस सृजन की प्रक्रिया का पहला चरण विध्वंस विध्वंस ही नहीं है विध्वंस के बिना सृजन ही नहीं होता विध्वंस बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तोड़ डालो क्योंकि तोड़ने में बहुत मजा आता है ये मैं नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं तोड़ो ताकि बनाया जा सके लेकिन बनाने के पहले इस खड़े को तोड़ना जरूरी हो गया इस पर क्यों जोर दे रहा हूं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि इसे हम तोड़ने को राजी हो जाएं तो फिर बनाने का भी विचार किया जाए लेकिन आप कहते तोड़ने की बात मत करिए बनाने के संबंध को समझाइए और आपको बनाने के संबंध में समझाया जाए तो आप इसी सड़े गले समाज में बनाने की करें और ये समाज आमूल जड़ से खड़ गया है इसे उखाड़ना जरूरी है लेकिन हमें विध्वंस से बड़ा डर लगता है जिसने पूछा उन्होंने बड़े भय से पूछा लगता है उन्होंने पूछा विध्वंस ही विध्वंस तोड़ो ही तोड़ो बहुत डर लगता है इतना डर क्या है तोड़ने से क्या बनाने की ताकत बिल्कुल नहीं बची है कि तोड़ने से इतना डर पैदा होता है बनाने की ताकत हो तोड़ने से कोई डर नहीं ये बात जरूर है कि तोड़ने के लिए तोड़ने का कोई मतलब नहीं मैंने कहता कि तोड़ने के लिए तोड़ो डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन से ये मैं नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं डिस्ट्रक्शन फॉर क्रिएशन से विध्वंस सृजन के लिए और निर्माण की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सृजन की कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन में फर्क ख्याल है आपको सृजन में और निर्माण में क्या फर्क है निर्माण पुराने का ही लीप पोत कर बनाया हुआ डोंग धतूरा होता है सृजन नए का चल है निर्माण ऐसे है जैसे एक बूढ़े आदमी की एक टांग टूट गई तो लकड़ी की टांग लगा दी एक आंख टूट गई तो पत्थर की आंख लगा दी एक हाथ उखड़ गया तो एक नकली हाथ लगा दिया दांत निकल गए तो नकली दांत ये निर्माण ये रचनात्मक कार्यक्रम सृजनात्मक का मतलब है कि बूढ़ा विदा होने के करीब आ गया तो उसे प्रेम से विदा कर दो दुनिया में नए बच्चों के लिए जगह बनाओ आने तो नया बच्चा भगवान देने को तैयार सृजन का मतलब है नया और निर्माण का मतलब वही पुराना लेकिन कुछ लोग होते हैं मैंने सुना है एक आदमी ने शादी की बड़ी उम्र में शादी की चालीस साल का हो गया तब शादी की बहुत दिन तक लोगों ने देखा कि अब शादी का निमंत्रण मिलेगा अब मिलेगा मिला ही नहीं फिर लोग भूल ही गए कि अब शायद नहीं मिलेगा चालीस साल में निमंत्रण मिला लोग बड़े चौके एक मित्र नहीं जा पाया शादी में महीने भर बाद एक हाटल से दूल्हा और दुल्हन बाहर निकलते थे वो मित्र नहीं जा पाया था उसने क्षमा मांगने के लिए रुका लेकिन दुल्हन को देख के तो बहुत आराम हो गया सब बाल नकली थे आंख एक पत्थर की जरा सा मसल हिलती थी तो दांत खड़खड़ाते थे सब नकली थे एक टांग लकड़ी की थी एक हाथ था ही नहीं उसने कहा मेरे भगवान स्थिति तुमने तो इस मरी हुई स्त्री से तुमने शादी की है उस आदमी ने खिलखिला के हंस के कहा घबराओ मत जो टू वो बहरी भी है तुम तो घबराओ मत ये आदमी बड़ा रचनात्मक दृष्टि कर रहा हो ये जो दुल्हन लाए है बड़ी कंस्ट्रक्टिव इस मुल्क में ऐसे कंस्ट्रक्शन करने वाले बहुत लोग हैं वो कहते हैं पुराने को धूमधाम ठीक ठाक करके फिर लीक पोत के खड़ा कर दो लेकिन नए को सृजन की हिम्मत हमने खो दी है नए का सृजन करना हो तो पुराने का विध्वंस करना जरूरी है पुराने को जाने दे नया आ सके जगह खाली हो हिरोशिमा पर नागासाकी पर एटम बम गिरा तो लोग सोचते थे भैरव था कि कभी भी पनप नहीं सकेंगे सब बंजर हो गया सब जमीन से मिल गए मकान सब दरख्त सूख गए सब बदल गया सब खत्म हो गया वीरान हो गया लेकिन जाओ अभी मेरे मित्र लौटे जापान से वो कहने लगे मैं दंग रह गया हिरोशिमा देखा बिल्कुल नया हो गया और हिरोशिमा के लोग कहते हैं कि बड़ी कृपा रही कि ऐसा मोहम्मद ही गिरा दूसरे नगर पर नहीं गिरा सब पुराना खत्म हो गया पुराने झोपड़े मकान पुराना सब खत्म हो गया एकदम सब नया बन सका वहां जर्मनी में इतना विध्वंस हुआ युद्ध से गुजरे पहले महायुद्ध से गुजरे लोग सोचते थे अब सौ वर्ष लग जाएंगे जर्मनी को लड़ने के लिए तैयार होने वो पंद्रह साल में फिर तैयार हो गए फिर दूसरे महायुद्ध में कितना भयंकर विध्वंस हुआ दुनिया की सारी ताकतें लग के जर्मनी को रौन डाली आज जाके जर्मनी को देखे फिर नया होगा और हिंदुस्तान में पता है युद्ध कब से नहीं हुआ महाभारत के बाद नहीं हुआ पांच हजार साल कम से कम और महाभारत का भी हुआ कि नहीं कहना बहुत शक उससे जो विध्वंस हो गया महाभारत के युद्ध से वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया अभी भी जाए पूना में खोजें गली कूचे में वो मकान मिल जाएगा जो महाभारत के जमाने में बना होगा जिसमें कौरव पांडव ठहरे होंगे जरूर मिल जाएगी वो जगह जहां रामचंद्र जी निकले होंगे और जहां सीता जी ठहरी होंगी जिस झाड़ के नीचे वो जरूर पूना में होगा सब जगह है वो वो मिटते ही नहीं कोई विध्वंस नहीं हुआ इस मुल्क में तो भी ये था हुआ जीरा है और बहुत इकट्ठा हो गया है कचरा मैं ये नहीं कहता हूं कि युद्ध हो जाए मैं ये कहता हूं हमें खुद ही हिम्मत जुटानी चाहिए पुराने को जाने देने और पुराने को जाने देंगे तो नए को बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बिना बनाए हम नहीं रह सकते एक बार पुराने को जाने देने का साहस जब इकट्ठा कर लेती है कौन तो नए को बनाने में लग जाता आपको शायद अंदाज ना हो इस समय पृथ्वी पर जिन दो मुल्कों में अद्भुत प्रगति हुई है जैसी कभी नहीं हुई थी उन दोनों मुल्कों की प्रगति का कारण आपको पता है रूस ने उन्नीस सौ सत्रह में पुराने को विदा दी नमस्कार कर दी और कोई कारण नहीं है रूस की प्रगति का पचास साल में रूस में इतनी प्रगति हुई है जितनी हम जैसे लोग पांच हजार साल में नहीं कर सकते पचास साल में रूस क्या से क्या हो गया है लेकिन क्या किया रूस ने राज क्या है सीक्रेट क्या है सीक्रेट ये है कि 1917 की तारीख में कसम खा के उन्होंने पीछे को नमस्कार कर लिया कि तुम पीछे हम आगे जाते अब हमें क्षमा करो हमारे ऊपर सिर्फ मत सवार रहो अमरीका ने इतनी गति क्यों की आपको पता है अमरीका नया मुल्क है उसके पास कोई पुराना अतीत नहीं है उसकी उम्र ही केवल 300 साल की है 300 साल कुल उनकी सभ्यता की उम्र है उनके पास पुराना कुछ है ही नहीं कोई इतिहास जैसी चीज नहीं है कोई अतीत नहीं है इसलिए अमेरिका ने आकाश छू लिया संपत्ति का इतना निर्माण हुआ जैसा कभी ना हुआ शक्ति इस तरह फूटी जिस तरह कभी नहीं फूटी आज सारी दुनिया को भोजन दे रहे हैं एक हम है पांच हजार साल से सिवाय खेती के और कुछ भी नहीं कर रहे मुल्क के नब्बे आदमी सौ में से खेती में लगे बाकी सौ में से आठ भी वो खेती में जो लगे हैं उनकी चीजें लाने ले जाने की दलाली कर रहे हैं सारा मुल्क पांच हजार साल से खेती कर रहा है और जब देखो तब हाथ जोड़े खड़ा है कि अकाल पड़ गया भूख हो गई फलाना हो गया और अब तो 20 साल से हम यूनिवर्सल बैगिंग कर रहे हैं खड़े सारी दुनिया के सामने भिकारी बने हुए हमको भीख दो और जिनसे भीख मांग रहे हैं उनको गाली दे रहे हैं कि तुम तुम मटेरियलिस्ट हो हम स्पिरिचुअलिस्ट क्योंकि हम पैदा नहीं करते हम सिर्फ मांगते हम भी पैदा करते हैं सिर्फ एक चीज पैदा करते हैं बच्चे पैदा करते हैं हम आध्यात्मिक लोग हैं भौतिक लोग गेहूं पैदा करते गेहूं पदार्थ भौतिक लोग मशीनें बनाते कारें बनाते हम आध्यात्मिक हम आत्माएं पैदा करते हम बच्चे पैदा करते हम सिर्फ एक इंडस्ट्री है हमारे बच्चे पैदा करने की वो हम करते चले जाते अमेरिका 300 वर्ष में आसमान छू लिया हम 3000 वर्ष में भी कुछ नहीं कर पाते रूस ने 50 साल में कैसी गति की जिसकी कल्पना करनी मुश्किल है और हम हो क्या गया है हमें हम तोड़ने से डर गए हम तोड़ते ही नहीं हम उसी को बचाए चले जाते हैं बचाए चले जाते हैं मैं घर में कुछ दिन तक मेहमान बहुत लखपति आदमी थे जिनके घर में ठहरा लेकिन देख के हैरान हो गया घर देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी कबाड़ी का घर हो पुराने डब्बे भी इकट्ठे हैं पुरानी बुहारियां भी जो टूट गई फूट रह गई जिनसे कोई उपाय झाड़ने का नहीं है वो भी संभाल कर रखी हुई उस घर से कभी कोई चीज फेंकी नहीं गई ऐसा मालूम पड़ता है वहां सब इकट्ठे घर के लोगों को रहने की मुसीबत हो गई न मालूम बाप दादों की शादी हुई होगी तो उनके साथ जो ट्रंक सूटकेस आए होंगे वो सब रखे हुए हैं ढेर लगा हुआ है दो चार दस पीढ़ी पहले जिन पलंग उनके घर में कोई सोता होगा उनकी निमाड़ और उनके टूटे हुए अंग भी रखे हुए वो घर एक ऐतिहासिक नमूना उस घर में जिंदा आदमी का रहना मुश्किल क्योंकि मरों के इतने सामान वहां इकट्ठे मैंने उनसे पूछा ये काहे के लिए इकट्ठे किए वो इनको फेंको वो कहने लगे पता नहीं कब कौन सी चीज काम पड़ जाए ये भारत का दिमाग कुछ फेंको मत सब बचा के रखो पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए जरूरत किसी चीज की नहीं पड़ेगी सिर्फ अर्थी की पड़ेगी और उसमें हमारी अर्थी निकलेगी और ये सब सामान यही रखा रहेगा हमारी अर्थी निकल जाएगी अगर विध्वंस की तैयारी नहीं है तो विध्वंस होगा उसमें हम मरेंगे सामान बच जाएगा इतिहास की किताबें बच जाएंगी गीता रामायण सब बच जाएंगी आदमी मर जाएगा अब दो तो में से एक निर्णय करना या तो आदमी को बचाना हो तो इस सामान को आग लगाओ फेंको अलग करो इसे और जगह बनाओ स्पेस की कमी पड़ गई है चित्त में जगह नहीं रही है इतना कबाड़ इकट्ठा है इसमें जगह बनाओ ताकि इस जगह में नया आ सके नया अंकुर आ सके तो मैं कोई विध्वंस से मुझे कोई रस नहीं है कोई मुझे मजा नहीं आता कि चीजें टूट जाएं तो मुझे बहुत मजा आएगा विध्वंस के लिए जो कहता हूं उसका कुल कारण इतना है कि वो मार्ग साफ करेगा जैसे कोई आदमी एक जमीन पर बगीचा लगाए तो पहले घास पात को उखाड़ के फेंक देता है जमीन को खोद के जड़े निकाल के फेंक देता है आप खड़े हैं दरवाजे के बाहर कह रहे हैं क्या ये विध्वंस कर रहे हो अरे बीज बो निर्माण करो गांठ है तो रहने दो जड़ें पुरानी है तो रहने दो तुम तो बीज बो निर्माण करो हम निर्माण को मानते हैं हम घास को उखाड़ेंगे नहीं हम जड़े को उखाड़ेंगे वो आदमी कहेगा फिर फिर बीज खो जाएंगे घास में फूल पैदा नहीं होंगे घास पात इतना इकट्ठा हो गया है कि उसे साफ करना जरूरी है देश के चित्त की भूमि साफ करनी जरूरी है कोई चीजें तोड़ने का उतना सवाल नहीं है जो मैं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वो जो माइंड है हमारा वो जो जरा जीर हो गया चित्त है उसे तोड़ने और बदलने का सवाल है ताकि वो नया हो सके और वो नया हो सके तो भारत की प्रतिभा का जन्म हो सकता है और मैं आपसे अंत में ये कहना चाहता हूं अगर भारत ये हिम्मत कर ले और नए चित्त का स्वागत करने को तैयार हो जाए तो शायद भारत में इतनी प्रतिभा प्रकट हो जितनी दुनिया पर कोई दूसरा देश प्रकट नहीं कर पा रहा उसका कारण जैसे कोई खेत बहुत दिन तक बंजर पड़ा रहा है उसको कोई खेती बाड़ी ना हो और पड़ोस के खेतों पर खेती बाड़ी होती रहे तो जिन खेतों में खेती बाड़ी होती रही है वो अपशोषित हो जाते हैं उनका सारा का सारा जो भी सार तत्व है वो वृक्ष पी जाते फिर खेती छीण होने लगती है फिर कम फसल होने लगती है और एक खेत पड़ा है जिसमें हजारों साल से खेती नहीं हुई खाली पड़ा है उस पर अगर आज कोई दाने फेंक दे तो सारे पड़ोस के खेत पीछे पड़ जाए उसमें जो फसल आए उसका मुकाबला ना हो भारत अगर नया होने की तैयारी कर ले तो शायद भारत से बड़ी प्रतिभा खोजना पृथ्वी पर मुश्किल लेकिन हमारी नए होने की तैयारी ना हो तो फिर फिर सिवाय निराशा के भविष्य में और कुछ दिखाई नहीं पड़ता लेकिन निराश होने का मैं कोई कारण नहीं देखता हूं मुझे लगता है कि नया हुआ जा सकता है नए के सूत्र खोजे जा सकते हैं नए को निकाल লাল ধর্ম করতে করতে বহু মানুষের জীবনের দাম হয়ে য া टीका लगा रहे हैं वही भोग लगा रहे हैं खुद भूखे बैठे हैं भगवान को भोग लगा रहे हैं घंटी बजा रहे हैं भजन पूजन चल रहा है कि भगवान रोशनी भेजो और दरवाजे बंद है हे भगवान नया करो सब और खिड़कियां बंद हे भगवान सांस घुटी जा रही है नया जोखा भेजो लेकिन भाग्य की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी एक छोटी कहानी और बात मैं पूरी करूं मैंने सुना है एक बार ज्योतिषियों ने यह खबर की कि सात साल तक पानी नहीं गिरे सकते एक किसान बेचारा अपनी खेत की तैयारी कर रहा था वर्षा आने के करीब थी छोटी छोटी बदलियों ने निकलना शुरू कर दिया वो खेत खोद रहा था सुनी खबर लोगों ने कहा सुना जोशी कहते हैं सात साल तक अब वर्षा नहीं होगी तो उसने अपना सामान हल बखर उठा के मकान के भीतर संभाल के रख दिए कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत क्या तैयार करना सात दिन घर में बैठे बैठे बहुत घबरा गया हाथ पैर ढीले पड़ गए सोचा कि सात दिन में यह हालत हो गई मरने की कुछ ना करूंगा तो सात साल में तो मैं नहीं बचूंगा और अगर बच भी गया मरा खुरा किसी तरह तो सात साल में खेती कैसे की जाती है ये ना भूल जाऊं तो उसने सोचा जब होगा जो होगा हम खेत तो खोदे ही खेत तो खोदते ही रहे कम से कम अभ्यास तो जारी रहेगा कम से कम जानते तो रहेंगे कि खेती कैसे की जाती है उसने आके बाहर सात दिन बाद खेत खोदना शुरू कर दिया एक छोटी सी बदली ऊपर से निकलती थी उसने कहा अरे मूर्ख किसान तुझे पता नहीं कि जोशियों ने कहा बरसा सात साल तक नहीं होगी क्या कर रहा है सुना नहीं तूने उस किसान ने कहा मैंने सुना है देवी सात दिन बैठा रहा बैठे बैठे घबरा गया बैठना तो मौत हो गई मैंने सोचा कहीं भूल ना जाऊं सात साल में कहीं मर ना जाऊं कहीं भूल गया खेती करना तो वर्षा भी होगी तो किस काम पड़ेगी इसलिए मैं अपना काम जारी रखे हूं जब होगी वर्षा तब ठीक है तब तक कम से कम काम का अभ्यास तो रहेगा उस बदली ने सोचा ये भी ठीक कहता है कहीं सात साल में ऐसा ना हो कि मैं पानी बरसाना भूल जाऊं बाहर में जाए ज्योतिषी तो उसने वही पानी बरसा दिया सात साल में भूल गए पानी बरसाना तो और मुश्किल हो जाएगी जो श्रम करता है वहां भाग्य आ जाता है भाग्य श्रम की छाया है और हम भाग्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो होगा से देखते रहेंगे तमाश दिन की तरह खड़े हुए हैं राजगीर जैसे दर्शक दूसरे को देख रहा हो कि क्या हो रहा है ऐसे भारत की प्रतिभा नहीं चल सकती इन तीन दिनों में ये थोड़ी सी बातें मैंने कही मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत अनुग्रहित और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करता